और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम इस रात में आराम पाओ और ताकि तुम दिन में अपने रब का फजल यानी रिज्क तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो